हाँ सिद्ध दिखा माया दिखला दिखला कितना बल रखता है हनुमत चोरों की भांति नहीं वीरों की नाई हनता है हाँ सिद्ध दिखा माया दिखला दिखला कितना बल रखता है हनुमत चोरों की भांति नहीं वीरों के नाई हनता है देवी मैया सच्ची है तो सच्चा ही न्याय चुकाएगी राक्षस तेरे है बल लेने मठ में वे फिर आ जाएगी राक्षस तेरे है बल लेने मठ में वह फिर आ जाएगी सचमुच सच्चे टेर की हुए चमत्कृत पुरति नीचे से ऊपर उठे जगदम्बा की मूर्ति तब जग झंडी जय माता राघव के दास पुकार उठे निश्चय कर खांडा निज कर ले इस भाग्य वाक्य इस भाति वाक्य उच्चार उठे है धन्य आज तेरा शरीर जो देवी की बलि चढ़ता है ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज मिल सकता है फिर राघवेंद्र की ओर देख बोले स्वामी क्या आज्ञा है बोले स्वामी क्या आज्ञा है देवी की भेंट करूं इसको यह मुझ सेवक की इच्छा है देवी की भेंट करूं इसको यह मुझ सेवक की इच्छा है लंका के दहन समय है प्रभु द्रावण बध को लब का था मैं रघुनाथ सहारेंगे इसको जिस कारण ठहर गया था मैं रावण न सहे अहि रावण को इन हाथों द्वारा मरने दो इन हाथों द्वारा मरने दो बानक जब अचानक है तो जन को मन का करने दो बानक जब अचानक है तो जन को मन का करने दो संहारो संकेत में कह उठे श्री राम पहुँच गया पल मात्र में अहिरावण प्रभुधाम देवी पूजन तब किया सबने भले प्रकार गूंजा हर सोलाष्ट से गुप्त प्रकार संसार जन पर हुई दो दिशा से वरद हस्त की छाम छुए जबी माँ के चरण और राम के पाँव प्रभु बोले सीता लक्ष्मण को प्राणों का बलिदान दिया तुमने पर आज राम राघव को भी जीवन हनुमान दिया तुमने अब तुम तो उस पद पर पहुँच गए है जहाँ द्वैत का खेद नहीं हो गए राम हनुमान एक हनुमान राम में भेद नहीं हनुमान राम में भेद नहीं स्वामी का देखा जबे यह उदार व्यवहार गिरे चरण में पुलक कर सेवक पवन कुमार शंकर विवल हो गए जब यह कहा प्रसंग समझ भवानी भी गई उनके तन का रंग पौराणिक जगत जानता है रुद्रावतार बजरंगे है रुद्रावतार बजरंगे है अथवा बजरंगे चोले में यो समझो स्वयं रुद्र ही है अथवा बजरंगी चोले में जो समझो स्वयं रुद्र ही है जब आई ध्यान अवस्था व तो गदगद हुए महेश्वर भी पद सम्मान पद समानता का देने में जिसके नहीं से रघुबर भी पद समानता का देने में जिसके नहीं से रघुबर भी आज भारी जयकार है कपिदल में आज भारी जयकार है कपिदल में छाया आनंद पार है कपिदल में आज भारी जयकार है कपिदल में छाया आनंद पार है कपिदल में सिंधु में है उषा लो रे पवन भी वही सुगंधि बटोरे देव मंडल हो हर्ष विभोर पुष्प बरसाता प्रभु की ओर राम नाम की गुंज है कपिदल में आज भारी जयकार है कपिदल में आज भारी जयकार है कपिदल में छाया आनंद अपार है कपिदल में आज भारी जयकार है कपिदल में आज भारी जयकार है कपिदल में मकर ध्वज को मुक्त कर हर से दया निधान अहिरावण का कर दिया उसको राज प्रदान हनुमत लक्ष्मण के सहित लौटे जब सुख कंद नवजेवन पा भालु कपे नाच उठे सारन अकस्मात आए जहां दुख के काले रात उदय हुआ अब वहीं पर सुख का स्वच्छ प्रभात अहि रावण का जब सुना रावण ने वृत्तांत घूम गया मस्तिक फिर चित्त हुआ आशांत उत्पन्न भूल में होने से जिस सुत का सिंधु प्रवाह हुआ जीवित जो दैव योग से रहा बेहवा बल कर ना हुआ जीवित जो दैव योग से विवा बल कर बनु नरना हुआ उस नारायण तक को सैन्य सहित बुलवाया अब लंकेश्वर ने भीषण रण किया कई दिन तक वर प्राप्त निश्चर ने भीषण किया कई दिन तक वह वर प्राप्त निशाचर ने नारद के द्वारा हुआ गुप्त भेद जब ज्ञात तभी कहे सुग्रीव ने हनुमत से सब बात मेरे सुत दधि बल के हाथों बध होगा इस नारायण तक का विधवा की अटल है इसी हेतु निष्फल रहा आज तक का जैसे संजीवन लाए थे वैसे दधिबल को लाओ अब जैसे संजीवन लाए थे वैसे दधिबल को लाओ अब तब गिर पर धाए थे दो धवल गिरे जाओ अब तब गिर पर धाए थे धौला घिर जाओ अब हनुमत हे पर फिर पड़ा नए कार्य का भार माथ नवा रघुनाथ को चले बुद्धि आगार वही एक ही टेक थे वही एक ही ध्यान सोच रहे थे मार्ग में इस प्रकार हनुमान भगवान अपने दासों को बलवान बना दे भगवान अपने दासों को बलवान बना दे लेना है और काम तो अब शक्ति बढ़ा दे लेना है और काम तो अब शक्ति बढ़ा दे मैं हूँ सदा पूर्ण तो परिपूर्ण सदा है मैं हूँ सदा अपूर्ण तो परिपूर्ण सदा है भिक्षा मुझे भंडार से कुछ और दिला दे भिक्षा मुझे भंडार से कुछ और दिला दे भगवान अपने दास को बलवान बना दे लेना है और काम तो अब शक्ति बढ़ा दे लेना है और काम तो अब शक्ति बढ़ा दे तेरे ही संकेत से भव सिंधु में कुदा मल्लाह मेरे तैरना मुझको भी सिखा दे मल्लाह और मल्लाह मेरे तैरना मुझको भी सिखा दे भगवान अपने दास को बलवान बना दे लेना है और काम तो अब शक्ति बढ़ा दे लेना है और काम तो अब शक्ति बढ़ा दे कर जोड़ बार बार यह बिनती है राधे श्याम कर जोड़ बार बार यह बिनती है राधे श्याम संसार दिखाया है तो अब सार दिला दे संसार दिखाया है तो अब सार दिला दे भगवान अपने दास को बलवान बना दे लेना है और काम तो अब शक्ति बढ़ा दे लेना है और काम तो शक्ति बढ़ा दे भगवान अपने दास को बलवान बना दे बलवान बना दे बलवान बना दे दधि बल को लाए जभे महावीर बलधाम असफल जो हो रोहा था असफल जो हो रहा था सफल हुआ संग्राम नारायण तक मारा गया कपिपति सुत के हाथ बिंद प्रया उसके त्रिया सती हो गई साथ घेर लिया कपि बृंद ने हनुमत को तत्काल बोले नेता आज से हुए अंजनी लाल कपिपत से बोले जाम्बुआन तुमने न किसी को संघारा है पर चलो तुम्हारे बेटे ने रावण का बेटा तो मारा है फिर हनुमान जी से बोले निश्चय तुम वीर विजेता हो हम भी कहते हैं अब से तुम इस रामा दल के नेता हो धन्यवास्तव में हुए उस क्षण पवन कुमार पहनाया रघुनाथ ने निज कर से जब हार एक नहीं सौ भी नहीं नहीं सहस्त्र विस्तार कोट कोट ही कंठ से निकला यह जयकार जय मारुति नंदन जय जय मारुति नंदन संकट मोचन संशय मोचन पाप ताप मोचन जय जय मारुति नंदन जय जय मारुति नंदन संकट मोचन संशय मोचन पाप ताप मोचन जय जय मारुति नंदन रिप मद गंजन खल मद गंजन दसमुख मद गंजन भय भ्रम भंजन वेद विभंजन भूमि भार भंजन भय भ्रम भंजन वेद विभंजन भूरि भार भंजन जय जय मारुति नंदन जय जय मारुति नंदन प्रभु मनोरंजन कपिबन रंजन सुर मुनि रंजन राधे श्याम नयन रंजन ओ जते जबरधन जय जय मारुति नंदन जय जय मारुति नंदन जय जय मारुति नन्दन